और काफिरों के अमाल हमवार ज़मीन में चमकती हुई रेत की मिसल है जिसको प्यासा दूर से पानी गुमान करता है हती कि जब वो उसके करीब पहुंचता है तो उसको कुछ भी नहीं पाता और वो अल्लाह को अपने करीब पाता है जो उसको उसका पूरा हिसाब चुका देता है और अल्लाह बहुत जल्द हिसाब लेने वाला है